परम पिता परमात्मा का स्मरण उन्नति में सतत सहायक परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को जब हम पुकारते हैं किसी भी विशेषण से युक्त करते हुए परमात्मा के किसी भी गुण को देखते हुए उन सब स्थितियों में हम अपने को परमात्मा से कम और परमात्मा को अपने से बड़ा समझकर ही पुकारते हैं प्रार्थना संबोधन स्तुति अच्छे अच्छे शब्दों से स्तुति संबोधन अपने से बड़े के लिए किया जाता है और परमात्मा की दृष्टि से हम सदैव बहुत कम योग्यता वाले हैं दूसरे शब्दों में कहूं तो परमात्मा की दृष्टि से हम नगण्य हैं उसके ज्ञान बल न्यायकारिता दयालुता पक्षपात रहितता इत्यादि समस्त गुणों में जो गुण हमारे में आ सकते हैं उन सब में परमात्मा हमारे से बहुत अधिक ऊंचा है दोष रहित है और हम अपने को परमात्मा की तुलना से देखें तो सदैव निचली स्थिति में पाते हैं चाहे मनुष्य कितना भी ऊंचा बन जाए जीवन मुक्त योगी भी बन जाए तब भी उसकी अनुभूति यही रहेगी मैं परमात्मा से बहुत कम हूं उसके अंश में भी कहीं नहीं हूं लेकिन यदि मनुष्यों में भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर होते हैं बहुत निकृष्ट व्यक्ति भी होते हैं नीचे की ओर गिरते जाते हुए व्यक्ति भी होते हैं जो भी और नीचे गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं मध्यम स्तर के ऊंचे उठने वाले व्यक्ति भी होते हैं और अच्छे स्तर के व्यक्ति भी होते हैं जो उन्नति की तरफ जा रहे हैं एक दिन चरम लक्ष्य को पाएंगे ही जिनमें कुछ समझ बन गई है अपने को सुधारने में लग गए हैं और जो अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं ऊंची स्थिति में वो भी मुक्ति और ईश्वर को प्राप्त करेंगे ही परमात्मा उनकी सहायता करता ही है क्योंकि वो धार्मिकों का सज्जनों का सदैव सहयोग करता है श्रेष्ठ व्यक्तियों को सदा बढ़ाने वाला होता है लेकिन जो व्यक्ति ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है निचली स्थिति में है अपने दोषों से हट नहीं पा रहा है जिसने <clears throat> जिसने अपने दोषों को अभी जाना तक नहीं है वो तो अपने से क्या ग्लानी करेगा या क्या किसी से प्रार्थना करेगा वो तो सामान्य स्थिति में जैसा समझता है नीचे जाता जा रहा है और जिसे ये पता लग गया है मेरे में ये दोष हैं लेकिन अपने को समर्थ नहीं पाता है उससे छूटने के लिए ऐसा व्यक्ति क्या इनकी भी परमात्मा सहायता करता है परमात्मा न्यायकारी है यथा योग्य व्यवहार करता है इस दृष्टि से हमारी समझ ये बनती है कि परमात्मा श्रेष्ठों की सहायता करता है जो स्वयं अपनी उन्नति करते हैं उनकी सहायता करता है श्रेष्ठों की सहायता करता है लेकिन जो पतित होते जा रहे हैं बहुत नीचे पहुंच गए हैं उनकी भी परमात्मा सहायता करता है न्यायकारिता आदि गुणों को देखें तो परमात्मा उनको सहायता करता प्रतीत नहीं होता है और यदि परमात्मा निकृष्ट व्यक्तियों की भी सहायता करे ऐसा हम स्वीकार करने लगे तो यथा योग्य व्यवहार प्रतीत नहीं होगा कि वो श्रेष्ठों की सहायता करता है वो समझ में आएगा लेकिन निकृष्ट लोगों की दुष्ट लोगों की भी वो सहायता करता है ये परमात्मा में कैसे हो सकता है आज के जो संबोधन है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो महर्षि लिखते हैं हे अधर्मोद्धारक या दूसरा पाठ भेद है हे अधमोद्धारक अधम का उद्धार करने वाले अधम का मतलब है जो बहुत नीचा है निचले स्तर का है मध्य से भी निचले स्तर का बहुत निचले स्तर का है समाज और मनुष्यों में जो आत्माएं ज्ञान की दृष्टि से कर्म की दृष्टि से भावनाओं की दृष्टि से बहुत नीचे हैं धन की दृष्टि से सुविधाओं की दृष्टि से बहुत नीचे हैं वो अधम है क्या परमात्मा उनका भी उद्धारक है तो संबोधन है हे अधमोद्धारक और यदि अधर्म शब्द रखते हैं तो हे अधर्म से उद्धार करने वाले तो परमात्मा हमारा अधर्म से उद्धार करता है और जो अधम है उनका भी उद्धार करता है इसी तरह से अगला संबोधन है हे पतित पावन जो पतित हो गए हैं गिर गए हैं जिन्होंने धर्म की पालना नहीं की अपने स्तर से नीचे गिर गए हैं अधर्म में चले गए वो पतित हैं उनको भी जो पवित्र करता है जो अपवित्र हो गए हैं उनको भी जो पवित्र करने वाला है हे पतित पावन सामान्यतया इन शब्दों का प्रयोग लोक में जब होता है अथवा कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता है हे परमात्मा उसकी स्तुति करता है साथ में प्रार्थना का भाव जुड़ा ही रहता है हे परमात्मा आप अधम के उद्धारक हैं अधर्म से उद्धारक हैं आप पतितों को भी अपवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं तो ये कहते हुए उस व्यक्ति के मन में क्या भाव रहता है कि मैं अधम स्थिति में हूं मैं पवित्र पतित स्थिति में हूं मैं कितना भी कर लू इस स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकता मैं निचली स्थिति में हूं मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है वो स्वयं अपने को असमर्थ पाता है और जो सहयोगी मित्र बंधु हैं समाज के लोग हैं राष्ट्र के लोग हैं अधिकारी हैं वो भी मेरे को इस निम्न स्थिति से ऊपर नहीं उठा सकते इस असहाय स्थिति में वो प्रार्थना करता है परमात्मा की स्तुति करता है हे अधमोद्धारक अधमों का भी उद्धार करने वाले उत्तमों का उद्धार तो करते ही हैं अधमों के भी आप उद्धारक हैं तो ये सोचते हुए व्यक्ति के मन में ये भाव बनता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना मैं कुछ कर ही नहीं सकता अन्य लोग भी कोई सहायता नहीं कर सकते उनसे भी प्रार्थना कर ली वो भी असमर्थ है अथवा केवल आश्वासन देते हैं कुछ कर तो नहीं पाते ये भी जो मेरी निम्न स्थिति है ज्ञान की दृष्टि से धन की दृष्टि से बल की दृष्टि से दिनहीन अवस्था है आप ही इससे मेरा उद्धार कर सकते हैं तो ये सोचता है जैसे परमात्मा मेरे को इस स्थिति से उठा के एकदम ऊपर कर देगा अब मेरे को करने के लिए कुछ नहीं है मैं कुछ कर ही नहीं सकता अन्य भी नहीं कर सकते जो करना है वो परमात्मा करेगा और ऐसी बहुत सी घटनाएं महापुरुषों के साथ जुड़ी हुई भी, भी है जिन महापुरुषों को जनता भगवान मानने लगती है उनके साथ भी यही संबोधन जोड़ देती है और उन घटनाओं में क्या जुड़ा रहता है कि कोई व्यक्ति जो निम्न स्थिति में था वो उनके संपर्क में आया महापुरुषों के और उन्होंने उनका उद्धार कर दिया जो अधम है जो पतित है उसे कुछ नहीं करना पड़ा बस ये श्रेष्ठ महापुरुष या जिन्हें वो भगवान मानते हैं वो उनके पास गए उनको स्पर्श किया उनको आशीर्वाद दिया उनको कुछ शब्द बोले उनके यहां भोजन किया और बस उनका उद्धार हो गया इन सब में जो लोक में प्रचलित है अपने पुरुषार्थ को हटा करके और केवल भगवान के द्वारा उद्धार करने की भावना जुड़ी रहती है अब ये विचार का बिंदु बनता है क्या परमात्मा अधमोद्धारक है तो इस ढंग से अधमोद्धारक है पतित पावन है तो क्या इस ढंग से पवित पतित पावन है तो जब हम परमात्मा को न्यायकारी और पक्षपात रहित स्वीकार करते हैं तो हमें ये मानना स्वीकार्य नहीं होता कि परमात्मा ऐसे ही उनको ऊंचा कर देगा बल्कि हम उस एक पक्ष में चले जाते हैं कि अधमों का तो उद्धार परमात्मा कभी नहीं करेगा लेकिन वो भी एक पक्ष है वो करेगा लेकिन वैसे नहीं करेगा जैसा कि लोक में प्रचलन हो गया है इसमें प्रथम दृष्टि तो ये रखनी है कि परमात्मा की सारी व्यवस्था प्रत्येक आत्मा को ऊपर उठाने के लिए ही बनाई हुई है जो भी साधन दिए हैं जो भी व्यवस्थाएं दी हैं वो हर आत्मा को ऊपर उठाने के लिए ही है जो थोड़ा भी जागरूक है वो ऊपर उठता ही जाएगा नीचे कभी नहीं गिर सकता गिरता है तो ऊपर उठ जाएगा ऐसी बुद्धि ऐसी इंद्रियां ऐसी संवेदनाएं उसने दी हैं कि हम गलत चीजों से हटेंगे किंतु जो व्यक्ति इस समझ वाले नहीं बन पाते और नीचे ही गिरते जाते सुधरते नहीं है समझने का प्रयास नहीं करते क्या उनका भी उद्धार परमात्मा करता है तो परमात्मा के यहां उनकी भी व्यवस्था है पतन जो होता है अधर्म जो होता है वो मात्र मनुष्य शरीर में होता है किसी को अवसर देने के लिए मनुष्य शरीर दिया परमात्मा ने कर्मानुसार और उसने ऐसा उस अच्छा उपयोग नहीं किया और गिरता गया गिरता गया गिरता गया अब कितना गिरेगा इस छोटे से जीवन में जितना भी गिर गया अब यदि उसको न्यायानुसार अन्य शरीर प्राप्त होते हैं तो ये उसके पतन को रोकना ही है यदि फिर मनुष्य जन्म दे दिया जाता तो और गिरता ही जाता उसके रुकने का कोई अवसर नहीं है वो समझ नहीं पा रहा है बल्कि और गलत करते करते और बुरे संस्कार डालते डालते अपने को गलत रास्ते की तरफ ही ले जाने के लिए और अनुकूल बनाता जाता है और जैसे आजकल के बहुत से कारागार होते हैं स्थितियां होती हैं सुधार गृह होते हैं कि अनेक रोगी वहां जा करके और अधिक बिकट करके निकलते हैं वो सुधार ग्रह कारक ग्रह न होकर के वहां की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो और दुर्गुणों को और अपराधियों को जान के समझ के और ज्यादा कुटिल हो जाता है और ज्यादा दुस्साहसी हो जाता है और ज्यादा अपराध करने लग जाता है परमात्मा की दंड व्यवस्था ऐसी नहीं है परमात्मा की दंड व्यवस्था कितनी कठोर है कितने लंबे समय की है फिर भी वहां जाकर के आत्मा और अधिक नीचे नहीं गिरती जिसे हम पशुओं का व्यवहार भी कहते हैं वो उनके जीवन के लिए व्यवहार है उनको समझ नहीं है उतनी किंतु जैसे मनुष्य पतित होता है ऐसे अन्य शरीरों में आत्मा पतित नहीं हो सकती और उन दिशाओं की तरफ वो बढ़ने से बच जाता है जिस तरफ मनुष्य रहते वो कर सकता था बढ़ सकता था तो परमात्मा की ये एक दंड व्यवस्था आत्मा को अधम को पतित को और नीचे गिराने से बचाने वाली है जब अधम का उद्धार होगा तो पहले अधम की अधम स्थिति से और नीचे स्थिति जाने को रोकना होगा पतित का पावन करना है तो पतित को और पतित होने से पहले रोकना होगा तो वो परमात्मा करता है और इनको ऊपर भी उठाता है समाज में एक अधम वो माने जाते हैं जो निर्धन है दिनहीन अवस्था में रहते हैं उनकी दिनहीन अवस्था परमात्मा के द्वारा दी हुई नहीं होती है वो समाज की व्यवस्था के कारण भी होती है अन्याय के कारण भी होती है सामाजिक अव्यवस्था के कारण भी होती है और वो अधम स्थिति में जी रहे हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो रहा है ऊंचे नहीं बन पा रहे ऐसे व्यक्तियों को भी समाज तो उद्धार नहीं कर पाएगा क्योंकि समाज नहीं सुधर रहा है परमात्मा उनके अच्छे कर्मों मेहनत के अनुरूप उनको प्रतिफल प्रदान करके ऊंची स्थिति में दे देगा अभी नहीं बाद में दे देगा अगले जन्म में दे देगा अगले लोक में दे देगा भिन्न लोक में दे देगा तो ये जो निम्न स्थिति है ये केवल निंदा वाले अर्थ में ही नहीं किसी भी गुण साधनों की न्यूनता होना वो अधम स्थिति है एक रुग्ण व्यक्ति भी अधम स्थिति में है अज्ञानी व्यक्ति भी अधम स्थिति में है निर्धन व्यक्ति भी अधम स्थिति में है इन न्यूनताओं वाला जो व्यक्ति है उसको उसके कर्मों के अनुसार जब वो फल देता है तो व्यक्ति ऊपर उठता है उसको अवसर प्रदान करता है और पतित ये मानसिक रूप से और कर्मों की दृष्टि से जो पतित हो गया है इसमें अन्यों का योगदान उतना नहीं व्यक्ति के स्वयं का योगदान अधिक होता है वो स्वयं अपने को गिराता जाता है रोकता नहीं है तो वहां भी परमात्मा ने जो अंतकरण और बुद्धि की व्यवस्था की है सोचने की व्यवस्था दी है वो उपकरण उसको ये दिखाएंगे कि ये ऐसा कर रहे हो तो ये हुआ ऐसा ये काम किया ये नशा किया तो उससे ये हानि हुई वो उसको पता लगेगा जानकारी होगी और आत्मा चूंकि सत्य और असत्य को जानने वाला है उसके सामने बार बार ये चीज पहुंचेगी कि ऐसा किया तो ये हानि हुई ये किया तो ये परिणाम आया ये इंद्रियां मन बुद्धि परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं कल्पना कीजिए ये ज्ञान व्यक्ति को ना हो कि मैं जो कर रहा हूं इसका क्या परिणाम आ रहा है क्या इसका प्रतिफल हो रहा है ये संवेदना ना हो तो व्यक्ति गिरता ही जाएगा कोई भी क्रिया की जाती है समाज में कोई कार्य किया जाता है तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको पीछे से जाना जाता है जिसको आजकल फीडबैक बोलते हैं कुछ किया और लोगों से क्या प्रभाव आया लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई उनसे सूचनाएं ग्रहण करते हैं शरीर में कोई औषधि दी उसका क्या प्रभाव हुआ रक्त आदि से जांच करके पता लगता है कि ये ऐसा हुआ लोग आए उनसे उनके अनुभव सुने ये उसको जानना है ये तो प्रयत्न पूर्वक होता है लेकिन परमात्मा ने इस फीडबैक के लिए प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रतिफल जानने के लिए व्यवस्था सतत बना के रखी है और यही वो परम सहायता परमात्मा की है कि इसको जानने देखने वाला अपने को पतित स्थिति से ऊपर उठाता जाता है उठाता जाता है परमात्मा स्वयं पतित स्थिति से उठा के हमें ऊपर नहीं करेगा उसने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं यदि उसको हम माने वो नीचे से उठा के ऊपर कर देता है ये फिर अन्याय की कोटि में आएगा यथा योग्य व्यवहार नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर रहा है लेकिन परमात्मा उसको नीचे से ऊपर उठा देता है इसलिए बहुत से पतित व्यक्ति बस केवल प्रार्थना करते रहते हैं कि परमात्मा ही पतित पावन है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता मेरे लिए असंभव है इन दोषों से हटना और उसी ईश्वर समर्पण में चलते रहते हैं चलते रहते हैं यदि इसके साथ वो प्रयत्न कर रहे हैं तब तो ऊपर उठेंगे नहीं तो परमात्मा कभी नहीं उठाएगा तो परमात्मा ने जो व्यवस्था दे रखी है उसमें परमात्मा का पतित पावन स्वरूप हमें दिखाई देता है देख सकते हैं और परमात्मा इससे हमें कभी वंचित नहीं करता है मनुष्य शरीर में तो बिल्कुल नहीं करता है और अन्य शरीर भी उन स्थितियों से ऊपर उठाने के लिए तो परमात्मा अधमों का उद्धारक है और पतितों का पावन करने वाला है पतित पावन है उनको पवित्र करने वाला है हम जितना प्रयत्न करते हैं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अधम है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पतित है उन उन अंशों में जितना वो सुधर गया है उसको छोड़ करके जो बाकी क्षेत्र बचा है उसमें वो पतित है उसमें वो अधम है उन सब स्थितियों में परमात्मा हमारे पुरुषार्थ के साथ सहायता करता है सहयोग प्रदान करता है परमात्मा का सहयोग हमारे साथ में सतत है हम सब पतित अवस्था से उच्च अवस्था की ओर यात्रा कर रहे हैं कोई कहीं खड़ा है कोई कहीं खड़ा है तो साधक के मन में जब ये भाव रहता है कि मैं जितना भी प्रयत्न कर रहा हूं परमात्मा का सहयोग सदैव मेरे साथ में है परमात्मा ने यूं ही नहीं छोड़ रखा है यूं ही पानी में बच्चे को नहीं छोड़ दिया है कि अब डूबे तो डूबे और तैरे तो तैरे उसकी कोई सार संभाल नहीं उसकी कोई सुरक्षा नहीं ऐसे में बच्चा डरेगा मैं डूब जाऊंगा वो वहां जाना ही नहीं चाहेगा लेकिन यदि बच्चे को पता है कि मेरे को पानी में छोड़ा जा रहा है पर साथ में सहयोग है कोई भी स्थिति बनेगी मैं मरूंगा नहीं यथा योग्य मेरे को सहयोग प्राप्त होगा तो साधक अपने को कितनी भी पतित स्थिति में देखें होती है कुछ बातें कि वो व्यक्ति देखता है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत गिरा हुआ हूं मैं इस क्षेत्र में अभी बहुत कमजोर हूं इस क्षेत्र में अभी मेरी बहुत निचली स्थिति है तो उन सब स्थितियों में साधक अपने मन में ये भाव रखे कि परमात्मा अधमोद्धारक है पतित पावन है उसका सहयोग मेरे साथ में है मैं मात्र अकेला नहीं हूं क्योंकि जब व्यक्ति अपने को अकेला समझने लगता है और साथ में अपने को असमर्थ भी देखता है तो फिर वो निराश हो जाता है किससे आशा करे स्वयं कर नहीं सकता तो हमारा सामर्थ्य तो हमें समझना ही है लेकिन परमात्मा की सहायता उस महान परमात्मा की सहायता हमारे साथ सतत विद्यमान है थोड़ा भी करेंगे उसका सहयोग हमारे साथ में है वो बढ़ाएगा हमें इस आश्रय को पा करके इस आश्वस्ति को पा करके साधक निराशा में नहीं जाएगा कितनी भी बुरी स्थिति है कितनी भी बुरी स्थिति है फिर भी मैं ऊपर उठूंगा परमात्मा मेरे साथ में इस रूप में सिद्धांत युक्त युक्ति संकट ढंग से हम परमात्मा को अपना पावक मान सकते हैं उद्धारक मान सकते हैं तो मेरी तरफ से तो मैं इतना ही बोल रहा हूं आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आज के विषय में हाँ उत्तम जी आगे बोलिए जैसे हम अच्छे कर्मों के संदर्भ में कहते हैं कि परमात्मा के दिए हुए साधनों से हम शुभ कर्म कर रहे हैं परमात्मा का सहयोग है ऐसे ही वो प्रश्न उठ जाता है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है तब भी तो परमात्मा के दी हुई बुद्धि इंद्रिया सूर्य प्रकाश वायु के माध्यम से करता है तो जो बुरे कर्म करते हैं उसमें भी परमात्मा सहयोग करता है इस रूप में ये आक्षेप आएगा तो यहां ये समझना है कि परमात्मा ने कर्मानुसार हमें साधन दिए हैं न्यायपूर्वक और साथ में कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है ये एक बहुत बड़ा उपकार किया है अब यदि हम उन साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है उन साधनों का सदुपयोग करते हैं तो ये भी हमारा ही महत्व है कि हमने उनका अच्छा उपयोग किया ये केवल परमात्मा के द्वारा किया गया जब माना जाता है तो दुष्ट कर्मों में भी दोष आएगा कि वो भी फिर परमात्मा ने करवाए होंगे लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार हम क्या स्वीकारते हैं परमात्मा ने ये सब सहयोग दिया है लेकिन फिर भी करने वाले का कर्तृत्व वहां विद्यमान है अच्छे कर्मों में भी हम ये स्वीकार करें कि मैंने किया है तब बुरे कर्मों के संदर्भ में भी हम ये लगा सकते हैं कि मैंने बुरा कर्म किया है या इस दूसरे ने किया है तो उसने किया है ये परमात्मा ने नहीं करवाया ये संतुलन दोनों पक्षों में हमें रखना होगा इसीलिए जो पिछले दिनों बात थी कि व्यक्ति ये सोचने लगता है कि सब कुछ परमात्मा ने कराया मैंने क्या किया है भावना के अतिवेग में जब इस तरह की बात बोली जाती है या समझी जाती है हम क्या कर सकते हैं सब परमात्मा ही करा रहा है तो वो दोष वहां जाएगा एकदम प्रति प्रश्न आएगा कि फिर ये बुरे कर्म कर रहे हैं वहां भी तो परमात्मा ही करवा रहा है और ऐसे में परमात्मा पे दोष जाएगा तो ऐसा सिद्धांत नहीं हमें स्वीकार करना साधन परमात्मा ने दिए हैं ये परमात्मा ने कर्मानुसार दिए हैं ये उसकी कृपा है अब जो हम कर रहे हैं अच्छा और बुरा ये हम स्वतंत्रता से कर रहे हैं हम जो अच्छा कर रहे हैं इसका श्रेय परमात्मा को नहीं जाएगा इतने अंश में और जो बुरा कर रहे हैं उतने अंशों में दोष परमात्मा को नहीं जाएगा भले ही परमात्मा ने साधन दे रखे और कोई विक्रम जी विक्रम जी हाँ हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो क्या परमात्मा चाह करके भी हमारी कर्म की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकता है हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं यानी मनुष्य ये स्वतंत्रता परमात्मा ने ही दी है हमने कहीं से हतिया ही नहीं है हम कहीं से ये स्वतंत्रता ले नहीं सकते ये स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है कृपा करके हमें इस व्यवस्था के लिए तो जो चीज परमात्मा ने दी है स्वयं इच्छा करके वो परमात्मा उसको लेने की इच्छा क्यों करेगा परमात्मा ने सोच समझ करके ये व्यवस्था दी है इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती कर्म की स्वतंत्रता देना अनिवार्य है परमात्मा का कोई कृत्य कोई बात गलत नहीं होती वो पूर्णता को प्राप्त है वो बदलेगा भी कैसे क्यों बदलेगा लेकिन इस बात को इस रूप में न देखें कि परमात्मा इस स्वतंत्रता को नहीं ले सकता अर्थात वो बाध्य है बंधा हुआ है परतंत्र है कि वो हमारी स्वतंत्रता को छीन भी नहीं सकता ये ठीक है परमात्मा कभी नहीं छीनेगा क्योंकि उसके गुणकर्म स्वभाव नित्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन इसमें परमात्मा की विवशता नहीं देखें विवशता नहीं है उसकी ये कोई दोष नहीं है उसका हाँ ठीक है तो समाप्त कर दें कितनी बजे